बिलाशुबा जो शख्स अपने रब के सामने मुजरिम बनकर आएगा तो यकीनन उसके लिए जहन्नुम है उसमें वो ना मरेगा और ना जिएगा